विरह पदावली सूरदास यशोदा विलाप गोपाल मधुबन जात गोपाल ही मधुबन जात लाज किए का जन सरी है पल बीत जुग सात लाज किए कछु काजन है पल बीते जुग सात सुफलक सुत के संगन दीजिए सुनो हमारी बहुम खहु मधु बन जाओ यशोदा जी कह रही हैं कोई मथुरा जाते हुए मेरे गोपाल को रोक लो इस समय लज्जा करने से कुछ काम नहीं बनेगा क्योंकि यह क्षण सात युग के समान बीत रहा है हमारी बात सुनो अक्रूर के साथ इसे मत जाने दो नंद के लाल का वियोग होते ही गोकुल की सारी शोभा चली जाएगी श्याम और बलराम के रथ पर चढ़ने के साथ ही सवेरा हो आया सूरदास जी कहते हैं श्री यशोदा जी से इसके आगे कुछ बोला नहीं गया और उनका संपूर्ण शरीर प्रेम से रोमांचित हो गया मोहन नए कुबदन तन हेरो मोहन नए कुबदन तन हेरो राखो मोही नात जननी को राखो मोही नात जननी को मदन गोपाल लाल मुख फेरो मोहन नय कुबदन तन हेरो पाछे चढ़ो विमान मनोहर पाछे चढ़ो विमान मनोहर बहुरो ब्रज में हो तयधेरो बिछुरन भेंट देह ठाढ़े बिछुरन भेंट देह ठाढ़े निरखों घोष जन्म को खेरो समदो सखा श्याम यह कही कही समदो सखा श्याम यह कही कही अपने ग्वाल ग्वाल सब खेरो गए न प्राण सूर था अवसर गए न प्राण सूर था अवसर नंद जतन करी रहे घने रो नंद जतन करी रहे घनेरो माता कह रही है मोहन तनिक मेरे मुख की ओर तो देखो मेरा तुम्हारे साथ जो माता का संबंध है उसकी रक्षा करो मदन गोपाल लाल मेरी ओर तनिक मुख तो घुमा लो सुंदर रथ पर पीछे चढ़ना देखो तुम्हारे बिना व्रज में अंधेरा हो रहा है अतः लौट आओ खड़े होकर वियोग के समय की भेंट अंक माल दो और अपने जन्म के ग्राम इस ब्रज को देखो श्याम सुंदर गोप कुमारों अब सब अपनी अपनी गायें घेर लो यह कहकर उन्हें गायें संभाल दो सूरदास जी कहते हैं कि उस समय माता के प्राण नंद जी के बहुत प्रसन्न करने समझाने के कारण नहीं गए रही जहां सो तहाँ सब ठाढ़ी रही जहाँ सो तहाँ सब ठाढ़ी हर के चलत देखियत ऐसी मन चित्र लिख काढ़ी रही जहाँ सो सहा सूखे बदन स्रवत नयनन तेजल सुखे बदन स्रवत नयनन तेजल जलधारा उर बाढ़ी उर जलधारा उर बाढ़ी रही जहाँ सो सहा चितवती मनु द्रुमन बेली निरथ कर छाड़ी सुत जैसे दूध बिनु साड़ी सूरदास यक्रूर कृपाते सही विपति तन गाढ़ी सही विपति तन गाड़ी जो गोपियां जहां थी वही खड़ी रह गई वे श्याम सुंदर के चलते समय ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो चित्र में चित्रित की गई हो उनके मुख सूख गए नेत्रों से गिरती हुई प्रबल अश्रुधारा हृदय तक बह चली है एक दूसरे के कंधों पर भुजा रखे इस भांति देख रही है मानो वृक्ष पर फैली हुई लताएं दावाग्नि से झुलस गई हों अक्रूर ने इन्हें इस प्रकार निरस बनाकर छोड़ दिया है जैसे मलाई से रहित दूध सूरदास जी कहते हैं कि अक्रूर की कृपा निष्ठुरता से वे अपने शरीर पर यह महान विपत्ति सह रही है चलत हो हिरन चित लाल चलत हो फेरन चितये लाल नीकै करी हरी मुख न बिलो क्यो नीकै करी हरी मुख न बिलो क्यो यह रहो उर्साल रथ बैठे दूर हिते देखे रथ बैठे दूर हिते देखे अम्बुज डैन बिसा चल बेहाल चलहु फेर न चत ये लाल चलत हूँ फेर न चित ये लाल लोचन पूरी रहे जल महिया लोचन पूरी रहे जल महिया दृष्टि परे जही काल चलत हूँ हिरन चित यही लाल चलत हूँ हिरन चित ये लाल सूरदास प्रभु फिर नहीं चित ये सूरदास प्रभु फिर नहीं चित ये सूरदास प्रभु फिर नहीं चित अम्बुज चलत हूँ नचित ये लाल चलत हूँ नचित ये लाल सूरदास जी के शब्दों में माता कह रही है सखी चलते समय लाल ने लौट कर देखा भी नहीं हृदय में यह वेदना रह गई कि श्याम का मुख भली प्रकार देख न पाई उन कमल के समान विशाल नेत्र वाले को रथ पर बैठे दूर से ही देखा गोकुल के सभी लोग वियोग से व्याकुल एवं बेहाल होकर हाथ मल रहे पछता रहे हैं जिस समय उन पर मेरी दृष्टि पड़ी उस समय मेरे नेत्रों में जल भर आया इससे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले श्याम सुंदर को फिर देखा नहीं जा सका बिछुरत श्री ब्रज राज याज बिछुरत श्री ब्रज राज याज इन नयनन की परितीति गई बिछुरत श्री ब्रज राज याज इन नयनन की परितीति गई उड़िन गए हरि संगत तब हिते उड़िन गए हरि संगत तब हिते वैन गए सखी श्याम मई रूप रसिक लाल की कहावत रूप रसिक लाल की कहावत कछुवैन भई साचे क्रूर कुटिल ये लोचन वृथा बीन छबिछीन लई इति की परती गई बिछरत श्री ब्रजराज याज इन नैनन की परती मोचत सोचत समौ गयो तैसूल नयी सूरदास याही ते जड़ भय पलकिन हठ दगा दई पलकिन हठ दगा सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्री ब्रज का ब्रजराज का वियोग होने पर आज इन नेत्रों का भी विश्वास चला गया सखी ये तत्काल श्याम सुंदर के साथ उड़कर नहीं गए और न श्याम मय ही हुए ये सौंदर्य के रतिक एवं लोभी कहे जाते थे किंतु इस ख्याति के अनुरूप कुछ काम इनसे नहीं हो सका सचमुच ये नेत्र क्रूर तथा कुटिल है व्यर्थ ही इन्होंने मछलियों की शोभा छीनी है अब क्यों चिंता करते और आंसू गिराते हैं अवसर बीत जाने पर नवीन व्यथा होती ही है इन पलकों ने भी हठपूर्वक हमें धोखा दिया है इसलिए तो ये जड़ हो गई हैं केतिक दूर गयो रथ माई केतिक दूर गयो रथ माई नंद नंदन के चलत सखी नंदन के चलत सखी हों हरि को मिलन न पाई करत है जब हरि सो साज करत है काहुन बात चलाई ब्रज ही बसत विमुख भई हरि सो सोलन उड़ते जाई सोवत ही सुपने की संपत्ति सोवत ही सुपने की संपत्ति रई जिय सुखदाई सूरदास प्रभु ब्रिन ब्रज बहु एक पल न सुहाई एक पल न सुहाई सूरदास प्रभु बिन ब्रज बसी बऊ एको पलन सुहाई एको पलन सुहाई सूरदास जी के शब्दों में को, कोई गोपी कह रही है सखी रथ कितनी दूर गया होगा हाय नंदन नंदन श्याम सुंदर से चलते समय मैं मिल भी नहीं सकी वैसे तो मैं नंदराय जी के द्वार पर आए बिना एक दिन भी नहीं रहती थी किंतु आज ब्रह्मा ने मेरी बुद्धि हरण कर ली मैं घर के कामों में रुकी रह गई जब श्याम सुंदर इस प्रकार की यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे तब मुझसे किसी ने भी चर्चा नहीं की और इस प्रकार ब्रज में रहती हुई भी मैं मोहन से विमुख हो गई यह वेदना हृदय से जाती नहीं है जैसे सोते समय स्वप्न में मिली संपत्ति स्वप्न में ही चित्त के लिए सुखदायक होती है जागने पर नहीं अतः अब सूरदास के स्वामी के बिना व्रज में रहना एक पल भी अच्छा नहीं लगता सखीरी वह देखो रथ जा सखीरी वह देखो रथ जात कमल नयन कांधे पे कमल नयन कांधे पे पुण्यारोपित सन पहरा सखीरी वह देखो रथ जात सखीरी वह देखो रथ जान ले जात जब ओट अटने की ले जात जब ओट अटन की वचनहीन कृत सखीरी वह देखो रथ जा सखीरी वह देखो रथ जा चित पर कंप कनक कदली कह मानो पवन बिहार मधु छड़ाए सुफलक सुत ले गए मधुक्षणाय सु, सुफलक सुतलय गयो जो माखी बिलला सखीरी वह देखो कह रही है सखी देखो वह रथ जा रहा है कमल लोचन श्याम सुंदर के कंधे का पीतांबर अलौकिक छटा से उड़ रहा है जब अटारियों की आड़ में अक्रूर रथ ले जाते हैं तब गोपियों का शरीर वाणी रहित बन जाता है अर्थात वे बोल नहीं पाती भूमि पर वे ऐसी कांपने लगती है मानो सोने के बने केले को वायु हिला रहा हो अक्रूर उनके मधु माधुर्य रूप श्याम को छीन कर ले गए और वे सब गोपियां मधुमक्खी के समान व्याकुल हो रही हैं सूरदास जी कहते हैं अब उनकी ऐसी दशा है मानो उस सुंदर रूप रूपी जल के दर्शन के बिना मछली या कमल हो पाछे ही चितवत मेरे लोचन पाछे ही चितवत मेरे लोचन आगे परत न पाए मन लय चली माधुरी मूर्ति मन लय चली माधुरी मूर्ति कहाँ करो ब्रज जाए कहाँ करो ब्रज जाए पाछे ही दलवत मेरे लोचन आगे परतन पाए आगे परतन पाए पौनन पौनन भाई पता कायम्बर भैरथ के अंग पौन भई पता कायम्बर भई नरथ के अंग धुर न भई चरण लपटाती जाती उहलो सन ठाढ़ी कहो करो मेरी सजनी ठाढ़ी कहा करो मेरी सजनी जह विधि मिलही गोपाल सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी मुरझि परी ब्रजपाल रचि परी ब्रजपाल कोई गोपी मार्ग चलते हुए कह रही है सखी मेरे नेत्र पीछे की ओर ही देखते हैं और पैर आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वह माधुर्यमयी श्याम सुंदर की मूर्ति तो मन को अपने साथ ले गई भला अब मैं व्रज जाकर क्या करूंगी हम न तो वायु हुई न रथ के झंडे का वस्त्र ही बनी न आकाश बनी न रथ का कोई अंग बन सकी और न मार्ग की धूली ही बनी जिससे मोहन के चरणों में लिपट जाती और उनके साथ वहाँ मथुरा तक चली जाती मेरी शकी खड़ी क्यों हो ऐसा कोई उपाय करो जिससे गोपाल मिले जो कहती हुई सूरदास के स्वामी को मथुरा भेजकर वह ब्रजयोति मूर्छित हो गई कान्हा सो कहा कचो निकते बचन सुनाई सखीरी नाही परत रहो कान सो हम सो कहा कहो मैं मत ही नमरम नहीं जानो मैं मत ही नमरम नहीं जानो भूले मथत दसो की जय कहाँ कहो अब लय निधि दूत दूर निबहो सब अजान भई अवसर काहू रतन गजो सूरदास प्रभु वृथा लाज करी दुसह वियोग लो दुसह वियोग लो दुसह वियोग लो सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी कन्हैया ने पता नहीं मुझसे क्या कहा सखी वे मेरे द्वार पर कुछ शब्द सुनाते हुए निकल गए उन्हें न समझ सकने पर भी अब मुझसे रहा नहीं जाता मैं तो बुद्धिहीन हूँ उनकी बात का भेद समझा नहीं दही मथने में ही भूली रही अब नौ निधियों को लेकर भी क्या किया जाए वह प्राणों का दूध तो दूर चला गया उस समय सभी अज्ञान मूर्ख हो गई थी किसी ने भी रथ को पकड़ा नहीं अपने स्वामी से व्यर्थ लज्जा करके हमने असहनी वियोग स्वयं प्राप्त किया है तब न बिचारी ही यह बात तब न बिचारी ही यह बात चलत न फैट गही मोहन की अब ठाढ़ी पछता तब न बिचारी ही पाए निरख निरख मुख रही मौन है निरख निरख मुख रही मौन है थकित भई पल पात जबरथ भयो अदेश्य गोचर लोचन यति कुलात तब नहीं बिचारी यह बात सबे अजान भई उही अवसर ठिगही जसो मति मात तुलसी स्वामी के बिछरे कौड़ी भर न बिकात तब न बिचारी ही यह बात तब न बिचारी ही यह बात सुदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी तब यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई चलते समय तो मोहन का फेटा पकड़ा नहीं उन्हें हट करके रोका नहीं और अब खड़ी खड़ी पश्चाताप कर रही हूँ उस समय बार बार उनका मुख देखकर चुप हो रही थी पलकों का गिरना भी रुक गया था और जब उनका रथ नेत्रों से ओझल अदृश्य हो गया तब नेत्र अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं उस समय सभी अज्ञान हो गई थी माता यशोधा भी पास ही थी फिर भी उन्हें किसी ने रोका नहीं अब स्वामी से वियोग हो जाने पर हम में से कोई कौड़ी के मूल्य भी न बिकेगा अब वे बातें ही रही मोहन मुख मुस्काय चलत कछ का हो ना ही कही सख सुलाज बस समुझ परस्पर सनमुख सूल सही अब वे सालत है उर्मिया कैसे उकड़ती नहीं जो त्यो सल करण को सजनी काहे फिरत बही हरिचुंबक जहा मिले सुर प्रभु मोल जाहु तही मोहन मुख मुस्काय चलत कछू नाही कही सुधा जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी अब वे बातें भर उनकी स्मृति मात्र यहाँ रह गई जब श्याम अपने स्त्री मुख से तनिक मुस्कुरा कर जाने लगे तब किसी ने कुछ नहीं कहा सखी उत्तम लज्जा के वश होकर सभी ने परस्पर समझकर सम्मुख ही यह सूल सह लिया अब वह सूल हृदय में पीड़ा दे रहा है और किसी प्रकार निकलता ही नहीं सके जिस जिस प्रकार से शल्य चिकित्सा कराने के लिए क्यों इधर उधर भटकती फिरती है हमारे स्वामी श्याम सुंदर रूपी चुंबक जो उस सूल को खींच ले जहाँ मिले मुझे वहीं ले चला मेरी ब्रज की छाती मेरी ब्रज की छाती किन बदरी बदरी जाती मेरी ब्रज की छाती किन बिदरी बिदरी जाती हरि चलत चितवती मग ठाढ़ी पछताती विद्यमान विरह सूल उरम मैं जू प्राणनाथ बिछरे सके देवत न लजाती मेरी ब्रज की छाती किन बिदरी बिदरी जाती जो ठग निधि हरत रंच गुरुदय की भाती फिर मुस्कानी सूर मनसा गई तुलसीदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी मेरा हृदय वज्र का है नहीं तो वह टुकड़े टुकड़े होकर फट क्यों नहीं जाता श्याम सुंदर के जाते समय तो मैं मार्ग में खड़ी देखती रही और अब खड़ी पश्चाताप कर रही हूँ वियोग का सूल हृदय में है और वह गहरा धसता ही जाता है सखी प्राणनाथ का वियोग होने पर भी जीवित रहने में मुझे आज लज्जा नहीं आती जैसे ठग किसी प्रकार किसी बटाऊ के हाथ में तनिक सा गुड़ देकर उसकी संपत्ति छीन लेता है उसी प्रकार मोहन का घूमकर मुस्कराना था जिससे मैं उस समय मन से मतवाली हो गई